आखिर खालिद को भी लगा कि विक्रांत जैसे खूंखार पुलिस वाले के साथ दोस्ती करने का उसे भी फायदा ही मिलेगा ऐसे में उसने भी विक्रांत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया खालिद ने विक्रांत के हाथ से अपने कमीशन के बीस हजार रूपए लिए और फिर यहाँ से उठकर चला गया खालिद के जाने के बाद विक्रांत सरताज और उसके गैंग के साथ जिम से बाहर एक रेस्टोरेंट में आ गया वहां पर वो अपनी टीम के साथ जिम के बिजनेस को आगे बढ़ाने के मुद्दे पर बात करने के लिए आया हुआ था इस मीटिंग में सरताज के दोस्त जुनैद को भी शामिल किया गया था जुनेद पहले भी इस जिम में काम कर चुका है और उसे जिम में काम करने का कई सालों का एक्सपीरियंस भी है ऐसे में इस जिम की जिम्मेदारी भी जुनैद के हाथ में ही रहेगी उसके आइडिया से ही इस जिम को ऑपरेट किया जाएगा जुनेद ने सलाह दिया कि अभी जिम में कुछ नया करने की जरूरत नहीं है जिस तरह से पहले ये जिम चल रही थी वैसे ही इसे अभी भी चलाने की जरूरत है इस जिम में पहले से ही काफी लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब से यहाँ पुलिस का छापा पड़ा है तब से काफी कस्टमर्स का विश्वास यहाँ से उठ गया है ऐसे में अभी सिर्फ पुराने कस्टमर का ट्रस्ट ही बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए वैसे भी जिम में मेंबर्स की कमी नहीं है बस उन्हें संभाल कर रखने की जरूरत है ऐसे में बस जिम को ईमानदारी से चलाने की जरूरत है विक्रांत ने अपना आइडिया सामने रखते हुए कहा कि वो यहाँ पर ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस के लिए भी एक एरिया डेवलप करना चाहता है और एक फाइटिंग रिंग भी यहाँ पर बनाना चाहता है दरअसल विक्रांत ये सब खुद की प्रैक्टिस के लिए भी शुरू करना चाहता था साथ ही अगर यहाँ पर मार्शल आर्ट और ताइक्वांडो की प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी तो फिर नैना को भी यहाँ इसके बहाने बुलाया जा सकता है वो डेली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती है ऐसे में विक्रांत की प्लानिंग उसे जिम में बुलाकर प्रैक्टिस करवाने की है विक्रांत के इस आइडिया को जुनेद ने बिल्कुल सही ठहराया उसने बताया कि पहले भी जिम के मैनेजर ने यहाँ पर ताइक्वांडो प्रैक्टिस कोर्ट बनाने का सोचा था लेकिन उन लोगों का तो जिम खोलने का मकसद ही कुछ और था तो कभी इस दिशा में काम ही नहीं कर सके ये सब डिस्कस करने के बाद विक्रांत इन लोगों के साथ वापस जिम की ओर चल पड़ा वहां पहुंचकर वो जिम का निरीक्षण करने लगा इस वक्त वहां पर काफी लोग थे जो एक्सरसाइज के लिए आए हुए थे साथ में जिम के ट्रेनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे कुछ ट्रेनर्स ने तो विक्रांत को देखते उसे पहचान लिया उन लोगों ने भी जिम की मालकिन सोनू दीदी को अरेस्ट करते वक्त विक्रांत का एक्शन देखा था जिस तरह से विक्रांत ने हीरो की तरह सोनू दीदी के आदमियों को और जिम के मैनेजर को धोया था वो अभी तक ये लोग नहीं भूले थे कुछ ट्रेनर तो विक्रांत के एक्शन से इतने मुरीद हो गए थे कि उससे ट्रेनिंग लेने तक की बात करने लग गए थे आज भी जब उसकी नजर विक्रांत पर पड़ी तो वो विक्रांत से मिलने के लिए भागे चले आए यहाँ तक कि आज भी एक दो ट्रेनर ने विक्रांत को सर सर कहते हुए ट्रेनिंग देने की बात शुरू कर दी उन्हें लगता था कि विक्रांत ने विदेश जाकर ताइक्वांडो और मार्शल आर्ट्स की खास ट्रेनिंग ली है विक्रांत ने भी बिल्कुल हीरो की स्टाइल में हाथ हिलाते हुए उन लोगों को हाई किया और सभी को ट्रेनिंग देने का आश्वासन भी दे डाला इसके बाद ये लोग टहलते टहलते जिम के ऑफिस की तरफ बढ़ चले वहां मैनेजर के रूम के भीतर विक्रांत घुस गया मैनेजर का ऑफिस ठीक उसी तरह से सजा हुआ था जैसे पहले सजा हुआ था पिछली बार जब विक्रांत यहाँ आया हुआ था तब उसने इस रूम को इतना ध्यान से नहीं देखा था आज उसने बड़े ध्यान से रूम का निरीक्षण करना शुरू किया दरअसल यहाँ पर मैनुपुलेटेड इंटीरियर का काम किया गया था मतलब चीजों को जानबूझकर ऐसा बनाया गया था ताकि लोग जल्दी कुछ जान ना पाए ऑफिस की कुर्सी के ठीक सामने वाली दीवार में एक दरवाजा लगा हुआ था जो कि सीधा नीचे के तहखाने में खुलता था इसी रूम में सोनू अपना ब्लैक मार्केट वाला सारा धंधा चलाती थी लेकिन मजे की बात यह है कि मैनेजर के ऑफिस में जो दरवाजा था वो आसानी से किसी को नजर नहीं आ सकता था उसे बिल्कुल दीवार के रंग में तैयार किया गया था एक नजर में देखने पर ही ऐसा लगता है कि मानो सच में दीवार ही है कुल मिलाकर इस एरिया को जानबूझकर इसी तरह का बनवाया गया था ताकि यहाँ से ब्लैक मार्केट का काम किया जा सके और किसी की नजर भी ना पड़े विक्रांत को याद आया कि जब वो यहाँ पर पिछली बार आया हुआ था तब उसके दृश्य शक्ति के सिस्टम ने तहखाने वाले कमरे में काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे होने का सिग्नल दिया था और फिर तभी उसने ब्लैक मार्केट की सरगना सोनू दीदी को गिरफ्तार किया था सीसीटीवी कैमरा ओहो सीसीटीवी कैमरे के नाम पर विक्रांत को कुछ और भी याद आ गया केक शॉप के आसपास भी काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहां जरूर कुछ गड़बड़ था विक्रांत को याद आया कि डॉक्टर संजय की बनाई हुई स्पेशल टीम केक शॉप के बाहर डेरा डाल के बैठी हुई थी और वहां पर भी गली में काफी सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे लेकिन वहां पर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था शायद स्पेशल टीम वाले कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाना चाहिए इस बारे में वो सोचने लगा और फिर विक्रांत को एहसास हुआ कि आखिर क्या गड़बड़ हो सकता है पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग से तकरीबन तीन किलोमीटर की दूरी पर केक शॉप वाली बिल्डिंग भी थी ये वही बिल्डिंग थी जहां से विक्रांत ने रॉ एजेंट रंजीत को देखा था विक्रांत को किसी ही केक शॉप के सीसीटीवी कैमरे की याद आई वो तुरंत ही पैसिफिक कमर्शियल बिल्डिंग से निकलकर वहां जाने के लिए निकल पड़ा यहाँ उसने सरताज और उसके साथियों को जिम को मैनेज करने की तैयारी शुरू करने के लिए कहा और फिर तुरंत ही केक शॉप पर जाने के लिए निकल गया रोड पर काफी लंबा जाम लगा हुआ था अगर गाड़ी से जाया जाता तो वहां तक पहुंचने में एक घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग सकता था सो विक्रांत ने कैब बुलाने के बजाय पैदल ही जाने का निर्णय लिया वो फटाफट कदम बढ़ाते हुए केक शॉप के लिए चल पड़ा करीब दस मिनट में वो केक शॉप के करीब पहुंच गया पहले तो वो सीधे ही बिल्डिंग अंदर जाकर केक शॉप के सामने पहुंच गया लेकिन वहां पर अभी भी ताला लगा हुआ था अजीब बात है भला इतने दिन तक कोई शॉप कैसे बंद रह सकती है वो भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर की शॉप जहां रोज हजारों लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है वरना ऐसे कोई शॉप बंद करके नहीं जाता जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है तभी विक्रांत को कुछ ध्यान आया तो वो भागता हुआ बिल्डिंग के बाहर की तरफ आया बाहर उसे ना तो पुलिस की एक भी गाड़ी दिख रही थी और ना ही स्पेशल टीम की यानी कि इस जगह पर अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था समझ में नहीं आ रहा था कि स्पेशल टीम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके यहाँ से गई है या फिर इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन ही बंद कर दी है विक्रांत फिर से अंदर के एक शॉप के पास आया उसने अपने अदृश्य शक्ति के दिए हुए डिटेक्टर को भी ऑन किया तो पता चला कि इस वक्त यहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा या कोई अलार्म सिस्टम नहीं लगा हुआ है फिर वो शॉप के चारों तरफ राउंड मारने लगा